अल्लाह किसी भी शख्स को उसकी वसत से ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं सौंपता इसको फ़ायदा भी उसी काम से होगा जो वो अपने इरादे से करे और नुकसान भी उसी काम से होगा जो अपने इरादे से करे मुसलमानों अल्लाह से ये दुआ किया करो कि ए हमारे परवरदिगार अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमारी गिरफ्त न फरमाइए और ए हमारे परवरदिगार हम पर उस तरह का बोझ न डालिए जैसा आपने हमसे पहले लोगों पर डाला था और ऐ हमारे परवरदिगार हम पर ऐसा बोझ न डालिए जिसे उठाने की हम में ताकत न हो और हमारी खताओं से दरगुजर फरमाइए हमें बख्श दीजिए और हम पर रहम फरमाइए आप ही हमारे हामी और नासिर हैं इसलिए काफिर लोगों के मुकाबले में हमें नुसरत अता फरमाइए